किसी स्थान में अच्छे वाइब्रेशन है इसका अर्थ इसी अर्थ में जैसे मान लिया ये एक आश्रम है यहाँ से सभी लोग एक सुकून शांति पाके जाते हैं हम्म। वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ इस आश्रम के बारे में हम्म। जब भी जब भी हाँ, वो वो तो प्रतिबिंबित तो हो रहा है हम्म। यहाँ रहने वाले व्यक्ति उसको एक सुदिंग इफेक्ट के रूप में महसूस करते हैं नहीं उसको सुनने गिनने की बात नहीं मतलब अच्छा वाइब्रेशन अच्छा। किसी स्थान का वाइब्रेशन अच्छा वो ठीक है तो क्या मतलब मतलब ये मतलब ये है पहले से हमारा परिकल्पना है ये अच्छा चेहरा हम्म। एक ये है इससे भी हमारा ये वाइब्रेशन पहले से प्रस्तुत है हम्म। और दूसरा ये विधि है यहाँ अच्छे लोगों का विचार करना सोचना करना जीना बना ही रहता है इसलिए अच्छा लगता है इसमें कौन सा नया बात है भाई नहीं बाबा जी पर जो अच्छे विचारों का अच्छी इच्छाओं का अच्छे चिंतन का कोई एक प्रभाव वातावरण में धर्म के रूप में रहता है क्या जिसको कोई भी व्यक्ति गतिशील महसूस करता है गतिशील रहता है रहता है ना गतिशील रहता है हाँ। ये तो आप मानोगे हाँ। अच्छे विचार भी गतिशील है बुरे विचार भी गतिशील हाँ। है इसको समझो हाँ। हमारे में ये फिल्टर करने की यंत्र रखी हुई है जीवन में हाँ। अच्छे को ग्रहण करते हैं बुरे को ग्रहण नहीं करते हैं जैसा चावल को हम पकाना है पत्थर को अलग करते हैं चावल को पकाते हैं बाबा जी क्या है हम्म। एक नया व्यक्ति हम्म। यहाँ पर और आश्रम में आ जाता आ गया उसको इस आश्रम के बारे में कुछ भी नहीं पता है ठीक है परंतु इस आश्रम अच्छा लगता है नहीं और उस व्यक्ति इस आश्रम के बारे में एक दो करोड़ लोग बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं हाँ, बहुत अच्छी जगह है ठीक और एक नया व्यक्ति इस आश्रम में पहुंच जाता है हम्म। तो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है ठीक है ना क्या तो क्या एक दो करोड़ लोग इसके बारे में अच्छी भावनाएं लगते रखते हैं वो भी मैंने प्रभावित रहता है कि नहीं जी ये आपका कहना एक तो आपको बताया जो कुछ भी हम सोचते हैं वो वो प्रवाहित होता है ये बताया हम्म। अच्छा सोचो बुरा सोचो एक तो बात हो गई यहाँ अच्छे अच्छे की अच्छे लोगों का सोच इसके साथ यदि जुड़ी रहती है प्रभावित रहता ही है एक तो बात यही है वो आया हुआ व्यक्ति सर्वप्रथम अच्छाई को ही खोजता है बुराई को खोजता नहीं आदमी का यह वर्चस्व है कहीं भी आप किसी के पास जाओगे यदि पूर्व परिचित नहीं है उनके अच्छाई को ही आप खोजते हो स्वीकारते हो यह समझ में आता है कैसा उसका बहुत मोटी सी एक उदाहरण कहीं भी हम रास्ता में जाते रह रहते हैं रास्ता भटके रहते हैं तो आसपास में किसी आदमी किस जिसके प्रति हमारा कोई जान पहचान नहीं है उनसे पूछते हैं भैया इस गांव के लिए रास्ता कहाँ है वो ये डगर है ऐसा कर देता है उसमें हम चल देते हैं हाँ ना पहले हम उनको देखे नहीं रहते हैं ना सुने नहीं रहते हैं वो पूर्ण विश्वास से उसमें जाते हैं वो मिलते ही अच्छा बाबा जी एक मिनट जो विच, अच्छे विचार या बुरे विचारों की जो तरंग के रूप में जो गतिशील रहते हैं तो अच्छे और बुरे जो विचार हैं उनकी तरंगों में अंतर होता कंपन में अंतर होता होगा उसमें ये ऐसा सोचना चाहिए जो एक रिसीवर नाम की चीज होगी मैंने ग्राही वाला ग्रहण करने वाला एक क्रिया होगी विसर्जन करने वाला एक क्रिया होगी हम्म। विसर्जन में तरंग पैदा होता है हम्म। और ग्रहण में तरंग ग्रहण होता है हम्म। ये ये बात बहुत आसान बात है ना अच्छा इस विधि से अस्तित्व में जो है जो अभी धरती की वातावरण में ज्यादा से ज्यादा बुरे विचार भ्रमण करता रहता है कम से कम अच्छे विचार भ्रमण करता है हो गया इसीलिए धरती की बहुत सारा जगह खराब लगता है बहुत सार, बहुत कम जगह अच्छा लगता है उसके लिए क्या सहायक वस्तु है पूछा वहां स्वयं में निवास करने वाले एक सहायक होता है आसपास की परिस्थितियां दूसरा सहायकता होता है और वहां वहां जो सबसे ज्यादा वहां रहने वाले उसका वर्चस्व को बनाए रखते हैं सबसे अच्छे से अच्छे जगह में भद्दे आदमी को देख करके आदमी उतना ही डरता है जो अच्छे जगह में रह करके जितना वो क्या कहते हैं डरता है खराब जगह में रह करके डरता है आप समझ गए तो डरावनी जो बात है तो मनुष्य की अस्वीकृति का द्योतक है हमको अस्वीकार है इसलिए हम डरते हैं बात ठीक हो गई तो अस्वीकार वाला जो बंडल है अभी मानव के पास जाता है स्वीकार वाला कम है ठीक हो गए इसी आधार पर आप हम ज्यादा भाषा का प्रयोग करते हैं वस्तु को ग्रहण करने की जगह में जय हो मंगल हो कल्याण हो तो ये जो टेलीपैथी है बाबा हाँ? जो टेलीपैथी है हाँ? इसी ये, ये अभी जो व्याख्या की अभी आपने विचारों की गति उसी के आधार पर है उसी के आधार पर वो हाँ, हो जाता है व्याख्यात हो जाता है जो आप में ग्राहिता की प्यास और विसर्जन की तकनीकी दोनों एकत्रित हो जाती है हाँ। ग्राहिता की प्यास भी बना रहता है हम्म। विसर्जन की ताकत भी रहता है हम्म। और इन इन तरंगों को पैदा करने वाले में आप समर्थ हो जाते हैं हम दिल्ली में बैठा रहता हूँ हमारे में भी ऐसे ही ऐसे ही कंपोनेंट फिट रहता है इसीलिए हम आपके बात सुन भी लेता हूँ हमारे बात आपको सुना भी देता हूँ इसी को टेलीपैथी कहते हैं आ, हाँ, एक जो प्रचारित विचार है हम्म। वो कितने लंबे काल तक बना रहता है ऐसे ऐसी कोई स्थिति बनती है ऐसा कुछ ये क्या होता है बाबा एक तो बात आप समझो हर आवेश सामान्य होना चाहता है जय जय हर आवेश सामान्य होना चाहता है यह बात आपको समझ में आया था तो? तो हम पैदा किया जिस तर, जिस तरीके से वो जाकर के सूक्ष्म सूक्ष्म तरंग जो तरंग के रूप में काम करता है उसके बाद सामान्य हो जाते हैं हाँ। फिर आधार पे कहना कि महाभारत काल का कुछ कहा गया अरे वो कथा सुनते रहो हाँ। कथा बाबा जी एक और प्रश्न है हाँ। जैसे अवधि आश्रम के बारे में मेरी भावनाएं बहुत अच्छी है हाँ। मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ और मैं अवधि में रहता हूँ तो भी मेरा प्रभाव ये अच्छा वाला प्रभाव यहाँ रहेगा यदि मैं यहाँ से एक हजार किलोमीटर दूर रहता हूँ तो भी वो प्रभाव ठीक है बढ़िया है परंतु किसी वजह से यदि इसके बारे में मेरे विचार बदल जाते हैं अभी हम्म। तुरंत हम्म। तो तुरंत वो प्रभाव खत्म हो जाता है या कुछ समय बाद खत्म प्रभावित नहीं कर पाता है ये माना जाए हाँ वो तो उस समय उस मुहूर्त से आपके ऊपर प्रभावित होने वाली जो रिसिप्टिविटी थी वो बंद कर दिया इतने ही ना किए हो हाँ। नहीं, नहीं तो मेरा प्रभाव अभी लोगों पर पड़ रहा है यहाँ जो यहाँ जो लोग आ रहे हैं मैं इसको अच्छा मानता हूँ तो लोग इस जगह को अच्छा मानते हैं ये उसके उसके पीछे मेरा भी एक विचार कारण है ठीक है तो जैसे ही मेरा विचार परिवर्तित हो जाता है उसी क्षण से ये बंद हो जाता है क्या या एक दो घंटे आपका आपका संप्राप्ति की विधि है वो बंद हो जाता है मेरी संप्राप्ति की तो विधि बंद हो गई हाँ। लेकिन मेरे से दूसरों को जो प्राप्त हो रहा है वो, तो आप जो दे रहे हो वो तो वो मिलता रहेगा हाँ, उसी क्षण से बंद हो गया बना भाई भाई बाबा मैं और तो और आश्रम ठीक है ना दद्दा आपके पास दो क्रिया होता है ना हाँ। पहुंचाने वाला ग्रहण करने वाला अभी ग्रहण करने वाला बंद कर दिया तो वो आपको ये खड़िया आश्रम अच्छा है ऐसा नहीं दिखा ठीक है आप जो पहुंचाते रहे तो पहुंचाते रहो प्रभाव पड़ता ही रहता है नहीं बाबा जी इनका ये कहना है जैसे अभी तक मैं अच्छा विचार पहुंचा रहा था हम्म। तुमको अच्छा मिला था अब मैंने अच्छा विचार अपना बंद कर दिया अब मैंने बदल दिया उसको उल्टा कर दिया तो वो विचार बुरा वाला विचार उन तक कब पहुंचेगा बुरा पहुंच जाएगा कि एक आध क्या बुरा पहुंचाया आपने देखो पुनः वही हाथ पाच वाला बात पहुंचाने वाला आपका कैपेसिटी अलग है वो वो दरवाजा अलग है उसके बारे में ग्रहण करने वाला दरवाजा अलग है ग्रहण आप ग्रहण करने वाले दरवाजा को बंद करने पर बंद करने पर ही ये जगह खराब दिखना शुरू किया वो तो दिख गया अच्छा अब आप क्या जो पहुंचाते हैं वो पहुंचता रहेगा यदि यदि पहुंचाने वाले को मैं चेंज कर दिया अब जो पहुंचा चेंज किया तो वही जाएगा उसी क्षण से हाँ और क्या होता? और पहले वाला खत्म हो गया उसी क्षण से खत्म क्या होता है वो उस जो तरंग पैदा हुआ है वो तो सामान्य होने की जगह में ही जाता है पहले हो चुका ना हो उसमें कितना समय लगता है बाबा जैसे उसमें समय फमाई कुछ नहीं हो आपने शब्द बोला हमको बोला हम सुन लिया नहीं सुना खत्म हो गया बात तो ये तो शब्द का कंपन है खत्म हो गया वैसे ही विचार का भी वैसे ही हाँ। कुछ नहीं जब बाबा कई बार ऐसा सुनने वाला कुछ घटना है जो भविष्य में होने वाली है वो दिखाई दे जाती है वो वो बात तो दूसरे विधि से आता है मनुष्य का कल्पनाशीलता की एक एक क्षेत्र बना रहता है हर व्यक्ति का हम्म। उस कल्पनाशीलता के क्षेत्र के अंदर भावी क्षणों में होने वाले बहुत सारे झांकी कल्पना में आ जाता है भावी क्षणों में घटित होने वाले झांकी वो उनके कल्पना में आ जाता है उस उस आधार पर हम सोचते हैं पहले से हम ऐसा देखा घटित हो गया ऐसा कहते हैं वो तो वो तो आपके साथ भी घटित हो सकता है इनके साथ भी अच्छा, घटित बाबा जी इसमें इसका दूसरा रिवर्स जैसे भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी हैं हम्म। जिनको हम जानते नहीं हम्म। है ना हम्म। उनको जब ध्यान से देखा जाए तो क्या उसमें से कुछ घटनाएं दिख जाती हैं समझ में आ जाती है क्या आपको यही बात बताना मैं भूतकाल का जितने भी घटना है हाँ। किसी न किसी की स्मरण की संप्रेषणा होना चाहिए स्मरण हाँ। संप्रेषणाएं होती रहती है आप ही को बताया अभी हाँ, सारा बात हो गई अब राम कथा उन संप्रे वैचारिक संप्रेषणा में कोई ना कोई संप्रेषणा करता रहता है आप देख लेते हो क्या बुरा हो गया तो अरे बहुत बहुत ये फ्री स्टाइल है बाबा मतलब उस घटना की स्मृति किसी न किसी जीवन में होना चाहिए रहते ही है और वो उस समय संप्रेषण रहना चाहिए और काम करना चाहिए ऐसा नहीं तो वो संप्रेषणा जो है आपके कल्पना रेंज में आ गई हम्म। आपको आपको वो डिजाइन मिल गए वो आप सोचा कि ऐसा गठित हो गया